शब्दार्थ प्रत्ययन इतरेतराध्यासात शंकर तत्प्रतिभाग संयमात सर्वभूत ऋत ज्ञान शब्द अर्थ प्रत्यय प्रत्यय ज्ञान इनका परस्पर एकत्व अध्यास होने से मिश्रण होता है उसका विभाग उसके विभाग में संयम करने से सर्वभूतों के शब्द के शब्दार्थ ज्ञान हो जाता है इसमें शब्द स्वरूप वाचक है पद वर्ण नहीं ये विचार चल रहा है व्याकरण लोग मानते हैं वर्ण पद वाक्य से स्फोट है उनके द्वारा वर्णों की पद की वाक्यों की अभिव्यक्ति होती है वर्णों को नित्य मानते हैं ध्वनि के द्वारा अभिव्यक्ति होती है तो कोई मानते हैं कोई मानते हैं व्याकरण लोग को स्फोट के द्वारा अभिव्यक्ति होती है स्फोट सूक्ष्म रूप से है पद स्फोट वर्ण श्रवण होने के पश्चात उसके संस्कार से पद एकम पदम गौरित एकम पदम ऐसे बुद्धि होती है ये बुद्धि का विषय जो पद हुआ वो होता है वाचक अयम अभिसंधि चलेगा अर्थ प्रत्यय ही वर्णेर क्रमतया परस्परम असंभव अद्भिर अशक्य तुम वर्णे ही परस्परम असम असंभव अद्भिर कर्तुम अशक्यम नियत क्रमतया अर्थ का ज्ञान अर्थ प्रत्यय वर्ण तो क्रम से उच्चारण होगा परस्परम असंभव असंभव पाठे असंभव दो असंभव बद असंभव असंभव एक बार असंभव भी अमिलित ही असंभव परस्पर संभव नहीं मिलन परस्परम असंभव भी कर्तुम असक्यम ठीक है ठीक है परस्पर संभव मिलन नहीं होते हैं वर्ण तो प्रत्यय ज्ञान वर्ण के द्वारा नहीं हो सकता है नियत कर्म से उच्चारण होंगे गौ हो घटर तो वर्ण एक आगे उत्तर वर्ण उच्चारण होता है उसके बदल उच्चारण होता है पूर्व नष्ट होता है एक साथ मेलन नहीं होगा तो अर्थ ज्ञान नहीं हो सकता है न जो संस्कार द्वारा अग्नि आदि नाम परमापूर्वे व स्वर्गे व जनितव्य अनियत क्रमण साहित्य साहित्यम अर्थबुद्धि उपजन वर्णा सांप्रतम संस्कार के द्वारा अर्थ वर्ण से ज्ञान हो जाए आग्नेयादि नाम इव जिस प्रकार आग्नेदि यागों का फल स्वर्ग हो अथवा परम अपूर्व हो आग्नेय अग्नि समय उपांशु तीन याग किया जाते हैं पूर्णिमा में अमावस्या में तीन याग है आग्नेय और सान्नाय सान्नाय है दो याग ऐन्द्रम दति ऐन्द्रम पय तो तीन अमावस्या में तीन पूर्णिमा में मिलकर के छह याग है अमावस्या में जो तीन है उसको कहते दर्श पूर्णिमा में तीन पौर्णमास दर्श पौर्णमासाभ्याम यजेत छह यागों का अनुष्ठान होता है एक साथ नहीं होता है तो फिर भी मिल करके छह याग से छह उत्पत्ति अपूर्व छह होंगे और अंगों से अपूर्व होंगे सब मिल करके के परम अपूर्व होता है जो स्वर्ग का कारण है कोई मानते हैं परमापूर्व के लिए कारण है कोई कहते स्वर्ग का कारण सीधा मान बीच में के परमापूर्व कल्पना करने की क्या आवश्यकता है अग्नि अग्नि से हमें उपांश प्रत्यय की याद करने पर याद जन अपूर्व होगा सब मिल करके जब सब अंग कर्म सब पूरा हो जाएगा तो सब परमापूर्व उत्पन्न होता है अथवा तो ऐसे रहेंगे आगे स्वर्ग होगा तो परमापूर्व स्वर्गे जनित तभी अन्यत क्रमाना अवग्रह है अन्यत क्रमाना हाँ अवग्रह से जरूरत नियत क्रमाना जैसे ऊपर आया वर्णों का नियत क्रम है हमें नियत क्रमाना नियत क्रम क्रमाना है निश्चित क्रम से उत्पन्न होने पर भी मेलन हो जाता है साहित्य हो जाता है इसी प्रकार संस्कार के द्वारा प्रत्येक वर्ण श्रवण करने से बुद्धि होती तो तजन्य में संस्कार होगा संस्कार के द्वारा सब वर्णों के बुद्धि होकर के स्मरण होकर के अर्थ बुद्धि उपजन ने वर्णाना साहित्य अस्तु वर्णा मिल करके अर्थ ज्ञान करा दे अलग पद मानना क्या जरूरत है इति न सांप्रतम ये ठीक नहीं है सिद्धांत कहते विकल्प असहत्वाथ विकल्प सती थे विकल्प करने पर जो दोष होगा वो दोष सहन नहीं होता है अर्थात दोष रहता है दोष मार्जन नहीं होता है अर्थात दुष्ट ये मत सखलो एवं वर्णानुभवजन्य संस्कार स्मृति प्रसव हेतु अन्य व आग्नेदिजन्य एवं अपूर्वाभिधान दो विकल्प करते हैं वर्णानुभवजन्य संस्कार वर्णों के अनुभव होने पर वर्णों का अनुभव होता है वर्ण का अनुभव किस इंद्र से होता है श्रवण इंद्र के द्वारा वर्ण का अनुभव होता है हाँ, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष परोक्ष शब्द का प्रत्यक्ष होता है श्रवण इंद्र के द्वारा कोई अनुभव प्रत्यक्ष होता है ये तो प्रत्यक्ष है अनुमित ज्ञान भी अनुभव है ये तो प्रत्यक्ष शब्द का प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष अनुभव होने पर वर्णानुभव जन्य संस्कार अनुभव से संस्कार होता है संस्कार से स्मरण होता है अनुभव जन्य स्मृति हेतु भावना संस्कार स्मृति प्रसव हेतु स्मृति उत्पत्ति का हेतु संस्कार है एक विकल्प हुआ दूसरा विकल्प अन्य हुआ आग्नेयादिजन्य अपूर्व विधान आग्नेयादिजन्य जैसे अपूर्व वाचक अपूर्व कहते हैं ये अपूर्व से कह करके स्मरण होता है या जन्य संस्कार से स्मरण होगा न तावत अनंतर अनंतर जो उत्तर है आग्नेदिजन्य अपूर्व हो तो ठीक है नहीं कल्पना गौरव आपत्ति है अनुभवजन्य संस्कार होता है स्मरण का कारण ये तो सर्वत्र मानते हैं और एक अपूर्व मानना याद से जैसे अपूर्व ये कल्पना करने पड़ेगा गौरव है ये ठीक नहीं और संस्कार जल्दी मानेंगे वर्ण के अनुभव से संस्कार होता है फिर स्मरण होगा सैव तावत अदृष्ट पूर्व कल्पनीय तस्य च क्रमबद्धि एक जन्य तो न संभवती थी तजाति अनेक अभांतर संस्कार कल्पनित गौरव सैवता सैव संस्कार प्रथम पक्ष जो संस्कार कल्पना करेंगे अदृष्ट पूर्व तो दिखता नहीं प्रत्यक्ष नहीं होता है कल्पनीय कभी दिखाने किसी ने कल्पना करनी है तस्य च क्रमबद्धे वर्णानुभवे एक से जन्य तो न संभवती वर्णों का अनुभव वर्णों का उच्चारण एक साथ होता है क्रम से क्रम से होगा किंतु अनुभव ऐसा <laughs> अनुभव भी क्रम से होता है किंतु कहने से <laughs> तस्य क्रमबद्ध भी वर्णानुभवे वर्ण के अनुभव भी क्रम वाले क्रम से अनुभव होता है एक जन्यतम यदि अनुभव क्रम से हुआ पांच वर्ण का अनुभव क्रम से हुआ संस्कार पांच होंगे एक संस्कार होगा या एक स्मरण ये तो नहीं हो सकता है एक संस्कार कैसे होगा पांच अनुभव से क्रम से अनुभव हुआ ताज्य में एक संस्कार नहीं हो सकता है कैसे जन्य तो न संभवती इसलिए क्या मानेंगे इति तजातीय अनेक अभांतर संस्कार कल्पना जाति अनेक अवान्तर मध्यवर्ती संस्कार प्रत्येक वर्णजन्य संस्कार अलग अलग होगा घ अ त पांच संस्कार हो फिर बाद में घट एक पदेश बुद्धि कैसे होगी स्मरण कैसे होगा पांच संस्कार से एक स्मरण कल्पना करना या पांच संस्कार से फिर एक अलग संस्कार बने ये गौरव न चैस ज्ञापक हेतु अंगम अज्ञात तदंगता अनुभवती थी ज्ञापक हेतु अंगम ज्ञापक हेतु ज्ञान जनक साधन अंग वर्ण और संस्कार अंग संस्कार ज्ञापक हेतु अंगम ज्ञापक ज्ञान जनक साधन है अनुमान करेंगे संस्कार को स्मरण का कारण होगा संस्कार अज्ञात तदंगता न अनुभवते अज्ञात होकर के अनुभव अंग नहीं हो सकता है ज्ञान होने पर अनुभव का साधन होता है जैसे धूम धूम होता है ज्ञापक हेतु हेतु दो प्रकार है एक जनक हेतु एक ज्ञापक हेतु जनक हेतु कारण होता है वस्तु का ज्ञापक हेतु धूम है बनी का पर्वत बनी में धूमा हेतु क्या है धूम धूम हेतु है वाणी का तो धूम के हेतु कहते हैं ना पर्वत वन्यमान धूम हेतु क्या है धूम हेतु धूम हेतु है किसका वाणी का है किसका वन्य का वन्य ज्ञान का वन्य ज्ञान का धूम हेतु है धूम है तो वन्य ज्ञान हो जाता है ना नहीं धूम होने पर भी धूम का यदि ज्ञान नहीं तो बनी ज्ञान कैसे होगा और धूम जितने निकले धूम निकले से धूम से बनी उत्पन्न हो जाता है क्या इसलिए धूम तो हेतु नहीं धूम होता है ज्ञापक हेतु धूम किस हेतु हुआ ज्ञान जनक है और ज्ञान जनक भी तो होकर के होगा जो ज्ञापक हेतु होता है अज्ञात होकर के नहीं ज्ञात होकर के ज्ञापक हेतु जिस प्रकार धूम ज्ञापक हेतु हुआ इसी प्रकार ये ज्ञापक हेतु जो संस्कार वर्ण से ज्ञान होगा अर्थ ज्ञान ज्ञापक हेतु जो अंग होता है अज्ञात तो होकर के अंगत्व को प्राप्त नहीं करेगा साधनत्व को प्राप्त नहीं करेगा ज्ञात तो होकर के न कल संबंध तो अर्थ प्रत्ययनांगम अज्ञात तो अंगता थी संबंध पद पदार्थ का एक संबंध है जिसको कहते शक्ति संबंध नहीं होगा तो पद सुन करके अर्थ का स्मरण नहीं होता घट पद से घट अर्थ का स्मरण होता है घट पद से पट अर्थ का स्मरण होता है पुष्प का हाँ, पट का नहीं होता है पुष्प का नहीं होगा पुष्प पद से क्या पुष्प का स्मरण हो जाएगा अर्थ का हाँ पुष्प पद से पुष्प अर्थ का स्मरण हो जाता है डर नहीं हाँ, पुष्प सुनेंगे तो पुष्प अर्थ का स्मरण हो जाएगा हाँ। फट का नहीं होगा संबंध अर्थ अंगम अर्थ प्रत्यायन ज्ञापन का अंग शक्ति अज्ञात अंगता अज्ञात संबंध अर्थ प्रत्यायन का अंग नहीं होगा अर्थ ज्ञान का ज्ञान पन का साधन ज्ञान साधन नहीं होगा शक्ति ज्ञान चाहिए स्मृति फल प्रसवानुमित संस्कार संस्कार का अनुभव कैसे होगा स्मृति उत्पत्ति होने से अनुमान करेंगे इसका कारण संस्कार है कोई किसी विषय का स्मरण कर रहा है तो उसके स्मरण के पहले संस्कार होना हो, होगा नहीं संस्कार के बिना स्मरण नहीं होगा स्मृति प्रसव अनुमित स्मृति प्रसवानुमित संस्कार स्मृति उत्पत्ति उत्पत्ति के द्वारा अनुमित होता है संस्कार कार्य कभी कारण के बिना नहीं होगा स्मृति कार्य उत्पन्न हुआ तो उसके पूर्व क्षण में उसका कारण संस्कार अवश्य होना चाहिए तो संस्कार का अनुमान अनुमान हो जाएगा स्व कारण अनुभव विषय नियतो और संस्कार भी कैसे होगा कारण है अनुभव संस्कार का कारण अनुभव अनुभव जिस विषय का संस्कार उस विषय का होगा या दूसरे विषय का उसी विषय का होगा हाँ, स्वकारण अनुभव विषय नियत संस्कार है सप से संस्कार उसका कारण अनुभव अनुभव विषय नियत अनुभव का जो विषय संस्कार उसी विषय का होगा अनुभव वर्ण का हुआ था या पद का हुआ था वर्ण का वर्ण का अनुभव तो वर्ण का संस्कार होगा पद संस्कार नहीं होगा न विषयांतर प्रत्यय आघात उत्साहते संस्कार अन्य विषय का स्मरण उत्पन्न नहीं कर सकता है जिस विषय का संस्कार हुआ उसी विषय का अनुभव उत्पन्न हुआ उसी विषय का स्मरण उत्पन्न करेगा विषयांतरे प्रत्यय आघातम न उत्साहते अन्य विषय में प्रत्यय स्मरणात्मक ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता है संस्कार अन्यथा यत्किंचिदेव एक अनुभ्य सर्व सर्व जानिया यदि संस्कार होने मात्र से जिस किसी विषय का स्मरण हो जाए संस्कार होने का कारण अनुभव अनुभव का जो विषय तद विषय का ही संस्कार तद विषय का स्मरण होता है ऐसा नियम नहीं मानेंगे यत्किंचित एक अनुभव एक अनुभव कर दिया उसका संस्कार होगा संस्कार हो जाने से अभी सर्व सर्वम जानिया सब लोग सबको स्मरण करते रहे सबका स्मरण हो जाएगा एक को अनुभव हो गया तो सबका स्मरण नहीं होता है ऐसा हो जाए नहीं होता है इसलिए निश्चय है जिस विषय का अनुभव तद विषय का संस्कार स्मरण तद विषय के भिन्न विषय का तद विषय का स्मरण होगा न च प्रत्येक वर्णानुभव जनित संस्कार पिंड लब्ध जन्म स्मृति दर्पण समारोहिणो वर्णा समधिगत सहभागा वाचका इति सांपतम प्रत्येक वर्णानुभव जनित संस्कार पिंड लब्ध जन्म प्रत्येक वर्ण का अनुभव घट कहने पर घट पद का अनुभव होता है या प्रत्येक वर्ण का अनुभव होता है प्रत्येक वर्ण का अनुभव अनुभव से संस्कार होता है या स्मरण से अनुभव जनित स्मरण तो अनुभव जनित संस्कार अनुभव जन स्मृति हेतु भावना नाम का संस्कार प्रत्येक वर्ण के अनुभव जनित संस्कार संस्कार पिंड संस्कार सब मिल जाएंगे तो संस्कार पिंड संस्कार समूह घट कहेंगे तो घट विसर्ग पांच वर्ण के पांच संस्कार तो मिल करके तो पिंड लब्ध जन्म स्मृति दर्पण समारोह पिंड से लब्धम जन्म यही स्मृति अच्छा स्मृति इसे संस्कार समूह से स्मरण हो स्मरण दर्पण में वर्ण आरूढ़ होंगे स्मृति दर्पण समारोह वर्ण न इसे स्मरण में वर्ण आरूढ़ नहीं होंगे यदि संस्कार अनेक हुआ अनेक संस्कार से स्मरण होगा तो अनेक वर्ण का स्मरण ऐसा नहीं होगा समधिगत सहभावा वाचका जो वर्ण इसे स्मरण होंगे तो अनेक वर्ण का और ये अनेक वर्ण एक साथ अनुभव स्मरण में होने से एक अनु एक स्मरण का विषय होने से समधिगत सहभाव समधिगत सहभाव यही वर्ण नहीं एक साथ होगी ज्ञात होगी सब वर्ण का स्मरण हो जाएगा और वही वर्ण वाचक अर्थ का वाचक न सांप्रतम ये ठीक नहीं है प्रत्येक वर्ण अनुभव करेंगे अनुभव जनित संस्कार अलग अलग हुआ सब संस्कार मिल करके एक स्मरण हुआ उस स्मरण का विषय बहुत सब वर्ण होंगे और स्मरण में सब वर्ण एक साथ मिल गए इसी प्रकार सब वर्ण मिल करके अर्थ का वाचक हो जाएंगे इतना सांप्रतम क्यों नहीं आगे हेतु देते हैं क्रमाक्रम विपरीत क्रमानुभूता नाम तत्र अविशेषण औषधि जनन प्रसंगात अनेक वर्ण अनुभव जन्य संस्कार मिल करके यदि एक अर्थ का स्मरण कराए तो एक शब्द है रस और एक सरेश्वर राजा और सदे जारा राज कह जारा कह ये वर्णजन्य संस्कार समान है या नहीं रस कहो सर कहो वर्णजन्य संस्कार एक रस कहेंगे तो जितने वर्ण है सर कहेंगे तो इतने वर्ण है कम है वन्यजन्य संस्कार से मिल करके यदि अर्थ स्मरण हो जाएंगे तो क्या होगा क्रमा क्रम विपरीत क्रमानुभूताना क्रम से अनुभव हो, हो सर नहीं कह करके अस्र कहेंगे सर है ना स्वामी अ है अ को पहले ले आओ क्या कहेंगे अस्त्र ऐसे हो जाएगा तो क्रम से कहो अक्रम से कहो और क्रम को सर कहो रस कहो विपरीत क्रम अनुभूता नाम तत्र अभिशेषण अर्थ दी जाना प्रसंगा जैसे किसी प्रकार कोई सर कहता है कोई अस्त्र कहता है अर्थ ज्ञान हो जाएगा ना तर कहो अस्त्र कहो और अस्त्र कहो नहीं होता है होना चाहिए क्योंकि वर्ण संस्कार से मिल गए एक ही प्रकार वर्ण ही संस्कार है ये आपत्ति है क्रम से हो अक्रम से हो विपरीत क्रम से अनुभूत हो गए वर्ण तत्र अविशेषण समान रूप से अर्थ ज्ञान जनन प्रसंगात न चेत स्मरण ज्ञानम पूर्वानुभव वर्तिनी परंपरा गोचरित मरती है और जो वर्ण का जो स्मरण होगा पांच वर्ण का अनुभव हुआ संस्कार पांच हो गई मिल करके यदि स्मरण हुआ घट का तो स्मरण तो हो गया मिल करके किंतु पूर्वानुभव में आने वाली जिस परंपरा क्रम उसको भी विषय करेंगे स्मरण ये ही है सब मिल करके पांच वर्ण के पांच संस्कार मिल करके स्मरण हुआ मिल करके यदि स्मरण होगा तो मिल करके अर्थ ज्ञान हो गया तो उसी क्रम फिर कौन बताएगा क्रम का अनुभव कौन आता था एक एक वर्ण से एक एक संस्कार हुआ पांच वर्ण से पांच संस्कार हो गए उसे मिलकर स्मरण होगा अस्त्र कहो सर कहो अनुभव का स्मरण होगा तो क्रम से अक्रम से विपरीत क्रम से ही हो सकता है परापरता ठीक है परापरता ठीक है परम्परता जो दिया है परापर स्थान अं, पर और अपर परम प्रत्यय स्थान पर परापर स्थान गोचरित मरती पर अपर परत्व अपरत्व को विषय नहीं कर सकता है स्मरण तस्माद जो असंभवन अर्थ प्रत्यय एक पदानुभव में स्वनिमित उपकल्पयती वर्ण से अर्थ प्रत्यय अर्थ ज्ञान असंभव हुआ असंभव नहीं है तो एक पदानुभवम एक पद का अनुभव होते गौरी घटित एकम पदम एक पद अनुभव ही सन्निमित्तम उपकल्पित कल्पना करने हुई निमित्त कुछ है न चेष पदे भी प्रसंग वर्ण के द्वारा जिसे तो अनुभव नहीं होता है पद कल्पना करेंगे सन्निमित्त तो हो गया पद एक पद अनुभव होता है तो उसका निमित्त पद होगा पद कल्पना हो जाएगी वर्णों से यदि नहीं होता है तो पद से भी नहीं होगा आपत्ति न चेष पदे भी प्रसंग पद में भी इच्छा आपत्ति आएगी पद में मिलकर सब अर्थ ज्ञान कैसे कराएगा इतने न तथि प्रत्येक में प्रत्यय प्रयत्न भेद भिन्न धनयो व्यंजयंत परस्पर विसदृश तत्त पद व्यंजक ध्वनि बीच तुल्य स्थान करण निष्पन्ना आसन तो अन्योन्य विसदृशी पदे पदम एकम सदृशम आपादयंतर प्रत्योगी भेद न तत्सादृश्याम भेदा तदुपधानाद एकमपि अनवयवम अपि सवयवम इव अनेकात्मकमिव अवभाषयती पदों से भी तथि प्रत्येकमेव प्रत्यय प्रयत्न भेद भिन्ना तनय प्रत्येक पद में प्रयत्न भिन्न भिन्न है प्रयत्न के भेद से ध्वनि भी भिन्न भिन्न है धन व्यंजयत ध्वनि प्रकट करते है क्या परस्पर विशद तत्त पद व्यंजक ध्वनि ध्वनि भी विसदृश विलक्षण पद के व्यंजक ध्वनि ध्वनि से तुल्य स्थान करण निष्पन्ना तुल्य स्थान करण से उत्पन्न होते वर्ण सदृश आसंत सदृश सर रस आदि में तुल्य स्थान करण से उत्पन्न होते हैं किंतु अन्योन्य विशद से ही पदे ही पदम एकम सदृश नापादयंत अन्योन विसदृश है राजा जरा आदि पद में विलक्षण है सरस में विलक्षण है पदम एकम सदृशम आपादयंत एक सदृश उसके समान पद आपादन करते हैं और संबंधी के भेद से भिन्न भी पद हट जाएगा के भेद न तथा सादृश्यानाम भेदा तो सादृश्य भी भिन्न है स्वर का सादृश्य अलग रस का सादृश्य अलग जारा अलग राजा अलग प्रतियोगी से सादृश्य विभिन्न होगा तो तद उपधनात् सादृश्य रूप उपाधि से एकमपि अनवयवम एक पद होने पर भी अवयव नहीं निरवय है फिर भी सवयवम इव अनेकात्मकम अवभाषयती अवभाषयती गण है धन है धनी वेद भिन्न में प्रयत्न वेद भिन्न धनय अवभाषण ध्वनि प्रकट करते पदों को स्थान कर्म से निष्पन्न सदृश होते परस्पर विलक्षण पद के द्वारा एकम सदृशम आपादन एक पद सदृश पद का आपादन करते हुए ध्वनि प्रत्येक भेद में सादृश्य भिन्न भिन्न है सादृश्य रूप उपाधि के भेद से निरवय पद है सवैव जैसे एक ही किंतु अनेकात्मकमिव अवभाषयती धनय अवभाषयती पद को प्रकाश करते हैं यथा नियत वर्ण परिमाण संस्थान मुखम एकमपि मणिकृपाण दर्पणादयो विभिन्न वर्ण परिमाण संस्थान अनेकम आदर्शयती नियत वर्ण परिमाण संस्थान अपना जो मुख है उसका वर्ण परिमाण सब नियत है दर्पण छोटा रखो बड़ा रखो मणि रखो खड़ग रखो मुख में परिवर्तन हो जाता है नहीं मुख वही है नियत वर्ण वर्ण भी समान है परिमाण भी समान है अवय का समय का समान है मुखम एक होने पर भी मणि कृपाण दर्पण आदि अलग अलग उपाधि क्या करते हैं विभिन्न वर्ण वर्ण अलग है प्रतिबिंब अलग दिखेगा दर्पण है महिला है तो महिला दिखेगा खड़ग में प्रतिबिंब में रूप अलग दिखेगा वर्ण अलग होगा प्रतिबिंब में परिमाण बराबर होता है या भिन्न होता है हम्म, भिन्न होता है खड़ग में देखो मुख लंबा दिखेगा और गोल दर्पण में गोल दिखेगा काली में देखो उसमें तो गोल हो जाएगा मैं ऐसा रही हूँ दिखता ना उसको पूरा गोल हो जाएगा समुद्र से भर करो गोल और ग्लास तो, खड़के में देखो बिल्कुल लंबा हो जाएगा दस बारह फुट दिखेगा तो अलग परिमाण भिन्न भिन्न कोई छोटा बड़ा दिखता है नियत वर्ण परिमाण संस्थान होने पर भी विभिन्न वर्ण परिमाण संस्थान अनेकम आदर्श भी बिंब तो मुख एक है प्रतिबिंब एक है अनेक है अनेक उपाधि में अनेक दिखते हैं न परमार्थत परमार्थत नहीं अनेक दिखते हैं वास्तव नहीं सादृश्य उपधान कल्पिता भाग वो निर्भाग से पद से बनना पद है निर्भाग उसके वर्ण होते भाग भाग के सादृश्य उपधान कल्पिता सादृश्य रूप उपाधि से कल्पित है भाग पद है सादृश्य उपधान भेद कल्पित और सादृश्य उपाधि भेद से कल्पित भाग उपाधि भेद कल्पित सादृश्य उपधान भेद कल्पित सादृश्य उपधान भेद कल्पित उपधान के भेद से भाग कल्पित होते हैं निर्भाग से पद से है पर्ण निर्भाग पद के वर्ण भाग अवयव जैसे तेन तदबुद्धि वर्णात्मना पद भेदे स्फोटम अभेदमेव निर्भागमेव सभेदमेव सभागमेव आरंभते तेन तद्बुद्धि वर्ण आत्मना पद भेदे तद्बुद्धि तेन तद्बुद्धि अं, वर्णों की बुद्धि वर्णात्मन पद भेदे पद भिन्न होने पर स्फोटम अभेदमेव निर्भागमेव सभेदमेव पद भेद है स्फोटम अभेदमेव स्फोट तो एक है निर्भाग है अभेदमेव निर्भागमेव सभेदमेव सभागमेव अभेद स्फोट होता हुआ सभेद जैसे निर्भाग होता हुआ सभाग जैसे आलम्बते आलम्बते सुखम पदम पदम होगा साध्य से उपधान कल्पिता भाग निर्भाग से पदस्य होना तेन तत्पूर्णात्मना पदभेद स्फोटम अभेदमेव आरंभ स्फोटम आरंभ स्फोट है आशित तो होता है अभेदमेव स्फोटम निर्भागमेव होकर के सभेदमेव करके पदभेद में आश्रित तो होता है स्फोट भिन्न भिन्न पदे अलग अलग अतो गो पद स्फोट भेद से एक गकारो भागो गौरादि स्फोट सादृश्य में न निर्धारित स्वभागिनम इत औकारेण विशिष्टो निर्धारित गो पदस्फोट भेद से एक गो पदस्फोट विशेष हो गया एक ही गकार भाग है गौरादि पदस्फोट सादृश्य गौ गौर गौरा गौर आदि पदस्फोट वो गौर पद में भी गौ है गौपद में भी न निर्धारित एक गौ भाग से निश्चय नहीं होता है सौभागिनम सौभागिनम न निर्धारित गौ के वर्ण भाग अपने भाग वाले भागी शब्दों को निश्चय नहीं करता है ओकार विशिष्ट निर्धारित ओकार से विशिष्ट हो जाएगा गौ तो फिर निश्चय करा देगा एवं ओकारोपी भाग ओकार भाग सो पद सदृशतया न शक्त निर्धारित सौभाग्य में गोपद स्फटम ओकार गोपद में तो है सोची में भी है सोचिरादि पद सदृश होने के कारण स्वभाग वाले भागी गोपद स्फोट को निश्चय नहीं कराएगा वो वर्ण गकार में विशिष्ट निर्धारित गकार से विशिष्ट हो गया ओकार तो निश्चय करा देगा गो को असहभावी नाम संस्कार द्वारा न अस्थि सहभावी थी संस्कार के द्वारा वर्णों का साथ उच्चारण नहीं होने पर भी संस्कार के द्वारा स्वभाव है थी विशेष विशेषण भाव उपपत्ति वर्णों में विशेष विशेषण भाव हो जाएगा क्रम से न से भिन्न विषयत्म संस्कार हो संस्कार का विषय भिन्न विषयत्म संस्कार हो हाँ, पद संस्कार वर्ण संस्कार भिन्न विषय हो जाएगा भाग द्वय विषय अनुभव तजन मनुष्य संस्कार और एक पद विषय तो दो भाग को विषय करने वाले अनुभव हो गया ग ओ तजन्म से जन्म होता है दो संस्कार दो संस्कार से स्मरण होता है एक पद विषय तो एक पद विषय का ही केवल न पदम अव्यक्तम अनुभूयते अनुसार दिया तो भागानुभव अभावानुभव योनि संस्कार लब्ध जन्मना व्यक्तमिति विशेष केवल भागानुभव न भाग का अवयव का अनुभव वर्ण का पदम अव्यक्तम अनुभूति वर्ण अनुभव के द्वारा पद का तो अनुभव होगा अव्यक्त पद और अनुसार दिया मेलन बुद्धि को न करो ग ओ दो मिल गए तो अन्य से व्यावृत होकर के भाग अनुभव योनि संस्कार लब्ध जन्म भाग वर्ण के अनुभव से अनुभव योनि जिसका अनुभव के कारण संस्कार संस्कार से लब्ध होता है जन्म जिसका स्मरण का उससे व्यक्त होता है मतलब व्यक्त विशेष पहले वह केवल व्यक्त नहीं आगे व्यक्त होते हैं पद अव्यक्त अनुभवास्य प्रांच संस्कार आधान क्रमण व्यक्तम अनुभव आदधाना दृष्टा पहले पांच अव्यक्त अनुभव पहले जो अनुभव होते हैं अव्यक्त अनुभव होते हैं संस्कार आधान क्रमेण फिर इससे संस्कार होता है संस्कार उत्पत्ति के क्रम से आगे व्यक्तम अनुभव आदधान व्यक्त अनुभव उत्पन्न कराते हैं ऐसे दिखा गया पहले अव्यक्त अनुभव होता है उससे संस्कार होता है फिर क्रम से अनुभव व्यक्त होता है यथा दूराद वनस्पतु हस्ति प्रत्यय अव्यता व्यक्त वनस्पति प्रत्यय तब दूर से वनस्पति वृक्ष में वनस्पतु हस्ति प्रत्यय हाथी बुद्धि हो सकती है वृक्ष में हाथी बुद्धि रास्ता में जाते समय कहीं डरते पत्थर को हाथी समय के डर के डालते हैं तो पहाड़े में इस तरफ रास्ता के तरफ हाथी स्वर्ग आसन की तरफ हाथी आते थे एक बार एक महात्मा दौड़ कर भागा हाथी चढ़ कर कुछ नहीं कोई पत्थर या कोई पेड़ को देखा हाथी से डर करके पत्थर को कभी हाथी समझ हाथी को कभी पत्थर भी समझ लेते हैं हाथी वहाँ खड़े है देखो हाथी है देखते कहाँ हाथी जहाँ हाथी है वो पीटी दिखता है वो लगता है कि बड़ा पत्थर है हाथी में भी पत्थर बुद्धि हो जाती कभी पत्थर को देखकर हाथी के डर के भागते हैं भय तो मन से पहले मन में है कुछ पेड़ देखा ऐसा हिला बंदर है हाथी सोच के भागते हैं और दूर से वृक्ष में तो हाथी बुद्धि हो जाती है यह अव्यक्त है निश्चय नहीं हुआ ऐसे हाथी जैसे लगा फिर आगे व्यक्त वनस्पति उसे थोड़ा संस्कार हुआ फिर देखा हाँ, पास में गया पवन से उठता थोड़ा फिर स्पष्ट ज्ञान हो गया कि वृक्ष है व्यक्त वनस्पति प्रत्यय ज्ञान के हेतु है न यम विधा वर्णानाम अर्थ प्रत्यायन संभवनी किंतु ये प्रकार वर्णों से अर्थ ज्ञान होने के लिए नहीं होगा वर्ण से अव्यक्त अर्थ ज्ञान होगा फिर बाद में व्यक्त अर्थ ज्ञान होगा ऐसा नहीं हो सकता है नो खलु वर्ण प्रत्येकम अव्यक्तम अर्थ प्रत्ययति अंत व्यक्तम इति सबके मुक्त हो इन्हें कि वर्ण पहले अर्थ ज्ञान कराएगा ग कहेंगे तो किस अर्थ का ज्ञान होता है आकाश का घटेगा गरुड़ का नहीं होता है वर्ण प्रत्येकम अव्यक्त अर्थ ज्ञान उत्पन्न करेंगे अंत में व्यक्त ज्ञान करेंगे ऐसे वक्त न शक्य ऐसा नहीं कर सकते वर्ण से इस प्रकार नहीं होता है प्रत्यक्ष ज्ञान एवं नियम व्यक्ता व्यक्तित्व से प्रत्यक्ष में तो कभी व्यक्त अव्यक्त नियम है शब्द सुन करके अर्थ ज्ञान होगा अनुमान ज्ञान करे शब्द बुद्धि कर्म सुन करके ज्ञान हुआ इसमें व्यक्त अव्यक्त नहीं वर्णाध्यस्त अर्थ प्रत्यय न प्रत्यक्ष वर्ण से उत्पन्न जो अर्थ का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है ना नहीं हुँ? अर्थ का प्रत्यक्ष होता है वर्ण का दोनों का शब्द सुन करके अर्थ का प्रत्यक्ष हो जाता है लड्डू सुनो मोद कहो अर्थ ज्ञान हो गया ना नहीं अर्थ तो प्रत्यय हो जाता है स्मरण होता है अर्थ ज्ञान नहीं प्रत्यय का अर्थ वर्ण से नहीं हुआ वर्ण से तो शब्द का प्रत्यक्ष हुआ और अर्थ का स्मरण हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान में ही स्फुट अस्फुट नियम व्यक्त अव्यक्त परोक्ष में ऐसा नहीं वर्णाध्यस्त अर्थ प्रत्यय न प्रत्यक्ष वर्ण से जो अर्थ ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष नहीं होता है वर्ण से अर्थ का ज्ञान होगा वो प्रत्यक्ष नहीं है वर्ण से पद पद से फिर अर्थ ज्ञान होगा वो परोक्ष ज्ञान होगा स्मरण होगा तदेश वर्णे भ्यो मान स्फुट एवं तो न वा तो न तो स्फुट अर्थ ज्ञान यदि वर्ण से होगा तो स्पष्ट ही होगा नहीं तो उत्पन्न ही नहीं होगा अस्पष्ट अर्थ ज्ञान होगा बाद में स्पष्ट होगा ऐसा नहीं स्फोट से तो ध्वनि व्यंग्य से प्रत्यक्ष से सतर स्फुटा स्फुट कल्पियते समान और जो स्फोट है पदस्फोट ध्वनि के द्वारा अभिव्यक्त होता है प्रत्यक्ष है स्फुटा स्फुट कल्पियते तो स्फोट से पद का अर्थ का ज्ञान स्पष्ट और अस्पष्ट ऐसे कल्पना करते हैं समान नहीं है वर्णन जैसे नहीं एवं प्रत्येक वर्णानुभव जनित संस्कार सहित सहित श्रोत्र लब्ध जन्मनि अनुसार बुद्धु संहता वर्णा एक पद स्फोट भाव आपन्ना प्रयत्न विशेष व्यंगतया प्रयत्न विशेष से नियत कर्मापेक्षतया क्रमान्यते तदभिव्यंजक प्रयत्न विशेष अभाव तदभिव्यक्ति अभाव प्रसंगात भाष्य में अवस्थापित एवं बहुव वर्णा क्रमानुरोधन अर्थ संकेत अवश्य न यंत इतने वर्ण एते सर्वाभिधान शक्ति परिभूता सब अभिधान शक्ति से युक्त है सर्वाभिधान शक्ति से युक्त परिभूत होकर के शक्ति परिवृत्त शक्ति युक्त गौकार ओकार विसर्जनिया शासनादिमंतम अर्थम द्योतनी साधना गौरव कमर वाले अर्थ को प्रकाश करते हैं तदेतेषा अर्थ संकेत न अवच्छिन्ना उपसंहृत ध्वनिक्रमणा यह एक बुद्धि निर्भाष अर्थ संकेत से युक्त उपसंहृत ध्वनिक्रमणाम मिलकर के जो ध्वनि के क्रम जो एक बुद्धि निर्वास एक बुद्धि से भान होता है तत्पदम एको इति एकम पदम ये हो गया पद हो गया वही वाचक है वाच्य से संकेत संकेत वाच्य अर्थ का संकेत पद के साथ है तद पदम एक बुद्धि विषय एक प्रयत्नाक्षिप्तम अभागम अक्रमम अवर्णन वर्णों से अर्थ ज्ञान नहीं होगा पद से होगा और पद होने के लिए वर्ण के संस्कार से पद ध्वनि से अभिव्यक्त होगा पद स्फोट पद स्फोट से फिर अर्थ ज्ञान होता है और स्फोट प्रत्यक्ष होने के कारण पहले अस्पष्ट होता है बाद में स्पष्ट होता है इसलिए वर्ण से पदस्फोट ध्वनि से अभिव्यक्त होने पर पद से अर्थ ज्ञान होता है वर्ण से अर्थ ज्ञान नहीं होता है ये कहा एवं प्रत्येक वर्णानुभव जनित अभी प्रत्येक वर्ण अनुभव होने के बाद किस प्रकार पद स्मरण होता है पद ज्ञान होता है वो दिखाएंगे ओम पूर्ण मद